we have a list of uh, Bhagavad uh, Katha tapes, uh, some videos, um, also um, uh, from various places in New York, New Jersey, in Bombay, uh, Nairobi, uh, Haridwar, Kadia, Houston. very nice Udav Sandesh, Mathura Lila, Yugal Geet, so many different kathas. So if you enjoyed this katha. what topic for here. What topic for? Subtopic? जो सप्ताह हुए हैं सब सब टॉपिक का टॉपिक पढ़ सकते हैं ओके वी हैव बाल लीला किशोर लीला समुद्र मंथन ग्लोरीज ऑफ प्रहलाद महाराज अजामिल उद्धार उद्धव संदेश मथुरा लीला वृंदावन विहार लीला कालिया दमन लीला दावक निपान लीला युगल गीत श्री राम कथा कुंती स्तुति कुंती स्तुति ध्रुव महाराज कथा श्री वामन अवतार twenty four gurus of lord Dattatreya वेणुगीत Gajendra Moksha, teachings of Lord Kapil, Bhagavad Dharma, the Houston Katha from two years ago, Krishna returns to Dwarka, Akrur Manorath, and Rukmini Mangalam, which was a katha in New Jersey this year. So all these uh, kathas and tapes are available. Um, uh, just let us know. तो अंत में हमको अ, यहाँ सब ह्यूस्टन का भक्त को भी आमंत्रण दे, देना है कि अगली साल महाराज की कथा न्यू जर्सी में होगा in the last week of May तो आप जरूर आना और हमको आपकी सेवा का मौका देना आपका दास निर्माण अच्छा तो ये बिल्कुल हिंदी नहीं जानते हाँ। केवल अंग्रेजी बोल देते नावे we will invite Ram Malik मैंने तो कोई तैयार नहीं किया है मगर कथा में कुछ नोट किए थे कि हिज राधा गोविंद दास गोस्वामी जी का एक सप्ताह का भागवत का प्रवचन हुआ बहुत आनंद आया उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं कि सौभाग्य हमें मिला इस कथा में तीन बात का हमें मालूम पड़ा है गोस्वामी जी की कथा हम ही लोगों के लिए ज्यादा है जिनको कि उतना अध्ययन नहीं है जो अखबार ज्यादा पढ़ते हैं और भागवत कभी नहीं पढ़ते हैं तो भी कुछ समझ में आ गए एक तो यह था कि बराबर सुनते हैं कि सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म सभा है हर जगह सनातन में बहुत जगह इसकी परिभाषा ढूंढी थी मगर कुछ जन्म नहीं लिया बाद में स्वामी जी ने बताया तो ये तो बहुत ही सरल चीज है उन्होंने बताया कि बस पर दूसरे को दुख को में दुखी हो जाना और सुख में सुखी हो जाना उन्होंने बताया उसमें कि सिक्स टेन नाइन में श्लोक में कितना सिंपल चीज है कि जो अच्छे बड़े बड़े लोग हैं वो अपना जीवन किसी अच्छे काम में लगा दें लग, लग जाए उसी में लगे रहते हैं उसमें जान भी चली जाए दधीची का उदाहरण उन्होंने दिया ये बहुत सिंपल चीज है हमको पहले ही मालूम होना चाहिए था मगर नहीं मालूम था कि सनातन धर्म क्या है अब वो पता लग गया अभी की वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे वो भी है और गोस्वामी ने कहा कि साधु सरित शुभ सरित कपासु ऐसा होता है मगर सनातन धर्म के विषय में नहीं मालूम था दूसरा ये कि भगवान से प्रेम कैसे हो क्या कैसे करना चाहिए इसका भी बहुत जगह बहुत लिखा रहता है निकलता रहता है हर एक चीज में इसका भी बहुत ही सरल चीज बता दी उन्होंने कि जैसे पक्षी का बच्चा है वो कैसे माँ के लिए रहता है जैसे गाय का बछड़ा है मतलब हम सब दिन देखते हैं अपने गांव में जैसे कि पत्नी है बिछड़े हुए पति से वैसे भगवान की तरफ जो व्याकुलता हो जाए तो वही उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है और तीसरा ये कि इतनी मोटी किताब है मैं बहुत दिन सोच रहा था कि कोई एक दो श्लोक याद करूं उन्होंने बता दिया कि ये छब्बीसवा जो है सिक्स इलेवन ट्वेंटी सिक्स वही सबसे महत्वपूर्ण है अब मैं उसको याद भी कर लूंगा और उसका अर्थ भी पढ़ लूंगा यही है माने और बाकी सब तो बहुत चीज बताई मगर ये तीन हमारे दिमाग में लगी जो कि बहुत सरल चीज है हमें पहले ही ज्ञान होना चाहिए था मगर इतना दिन नहीं था पता लग गया तो इसके लिए बहुत ही हम आभारी हैं तो जब होता होगा ना जब करते हैं जब तो करते हैं मगर अखबार ज्यादा पढ़ते हैं <laughs> अच्छा तो ये है अब इसमें बहुत सारी कथा आई है वृद्धाश्रु तो खैर उतने महान भक्त थे उसकी कथा अखबार को मिनिमाइज <laughs> जी अब इसमें मैं नोट कर रहा था मैं तो दो प्रश्न आया बहुत सिंपल होगा उसका भी ये कि इंद्र जी इतने बड़े लोग हैं उन्होंने अपने बृहस्पति जैसे गुरु महान गुरु का अपमान क्यों कर दिया और दूसरा गुरु इतना परोपकारी उसको मार ही दिया और उसको कृष्ण भगवान जो है ना कुछ किए नहीं भक्त को तो माफ कर देते हैं बता रहे थे हमारे क्लास में टीचर की भक्त का सब माफ कर देते हैं मगर वो तो उनका अधिकारी है उसको दंड देना बहुत जरूरी है हमारा कोई ऑफिस का आदमी गलत काम करे तो उसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए अच्छा आ, अच्छा। दूसरा ये कि बता रहे थे हिरण कश्यप की और रावण वगैरह के बारे में उसका उद्धार करने के लिए भगवान खुद आए अरे वित्रासुर भी बहुत बड़े भक्त थे उनके लिए दधीची और इंद्र वगैरह की सहायता ले रहे हैं वो तो बहुत सिंपल काम था उनके लिए तो क्यों नहीं करते थे होगा कुछ उसके कारण होगा मगर मुझे पता नहीं लगा इस कथा में और हम लोग तो उम्मीद में यही रहेंगे कि कब फिर महाराज जी आएंगे और फिर हम लोग कुछ सीखेंगे हाँ? Now we will invite Her Grace Radharani Deviraj. हरे कृष्णा परम पूज्य महाराज और सब भक्तों का हमारा और सादर प्रणाम हम यहाँ यूस्टन में कथा के लिए आए बहुत अच्छा लगा और just want to thank everybody for organising the katha Vritrasur की कथा सुन के हमको मौका मिला तो मैं मेरा बहुत भाग्य मानती हूँ ऐसे तो भागवत में मैं प्रसन्न पढ़ चुकी हूँ पर ये सुन के मुझे थोड़ी चीज समझ में आई व्रतासुर की भक्ति कैसी थी कि असुर होकर भी उनका डेस्टिनेशन उनको मालूम था वो भगवान के दाम जाना चाहता था दूसरा है व्रतासुर के भगवान पर प्रार्थना किया कि उनको मन का भगवान मन भगवान में लगाना मुंह से भगवान की बात बोलना और प्रार्थना प्रार्थना करना और शरीर से भगवान के सेवा में लगाना तीसरा है वतासुर को भगवान पर इतनी श्रद्धा थी कि इंद्र को वो कहा करता था उनका उपदेश में कि आप आपका कर्तव्य करो मैं मेरा करता हूं और हम दोनों का जो फल मिलना है वो मिलेंगे तो हम लोग को भी सब हमारा कर्तव्य करना चाहिए पर हरे कृष्ण नाम की बोलना चाहिए इसमें से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा डेस्टिनेशन फिक्स रहे निवृत्तासुर जैसे भगवान की याद करने के शक्ति दे महाराज आपकी कृपा से हमारे कॉन्शियसनेस हमेशा हरि कृष्णा में लगी रहे ने हम वाणी और सेवा कृष्णा के करते रहे आप सब भक्त के आशीर्वाद रखती हो कि मैं मेरा रास्ता पर रहूं और एग्जिट ना आवे आपकी बेटी राधा रानी के लिए I'll invite our long-time member, Madhukar Bhai कथा के शुरू होने के पहले स्वामी जी से दो मिनट बात करने की आ, मौका मिल गया था तो हमसे बड़ी भूल हो गई हमने अज्ञानता में बुद्धू के जैसे कह सकते कह दिया कि हम हो सके तो भागवत की सब प्रार्थना सुनना चाहते हैं तो स्वामी तो हंस पड़े <laughs> कुछ नहीं कहा फिर हमें बताया गया कि वृत्रासुर की कथा कहने वाले तो ऐसे भी हम बहुत बुद्धू है तो कह दिया वृत्रासुर की बात कथा हो क्या <laughs> मेरा कहने का मतलब यह है तीस साल के समय में दो अच्छे समय पर दो सुखद प्रसंग पर भागवत तो नहीं पड़ा भागवत रहस्य पड़ गया और जो स्वामी जी ने तीन महामंत्र जैसे पृथ्वास्त्र की प्रार्थना बताई हमको वो हमने गांव से पढ़ी भी थी तो हम सोच रहे थे ऐसा कैसे हुआ कि हम इतना गौर से पढ़े हुए भी भूल गए तीन महामंत्र और उनके बताने के बाद हम घर जाके खोल के देखा पुस्तक में वो भागवत रस था कोई भी बड़े महासंत ने आशीर्वाद के समान लिखा हुआ था तो पढ़ा उन्होंने अक्षर सा ऐसे लिखा था जैसे इन्होंने बताया कि वैष्णव लोग इसका बड़ा अध्ययन करते हैं बड़ा ध्यान से इसका अभ्यास करते हैं और इसकी प्रार्थना बहुत ध्यान से करनी चाहिए और पुष्टि मार्ग के लोग इसका बहुत ध्यान करते हैं तो फिर हम सोच रहे थे तो समझ में आया कि इस साल में हम कितने बार कितनी नौकरियां कितने स्टेट कितने <laughs> विघ्नों से हम आगे बढ़े हैं तो भूल ही जाएंगे मगर आप जैसे साधु संत अगर हमको कहेंगे तो हम अब मरने तक नहीं भूलेंगे जैसे आपने बताया पत्र पुष्प फलम तो एम प्रश्न में बता दिया था फिर भी अभी याद रह गया है वो <laughs> आपने बताया था अर्जुन के बारे में वो बता रहे थे कि हम इसकी शक्ति से ये महायुद्ध जीते थे और वह मार गए ये सब फटे टुकड़े कपड़े पहन के वनवास में जाते हैं वो आपने बताया तो ऐसी बातें हम आपके मुंह से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हम यकीन से कह सकते हैं कि हम अभी कभी नहीं भूलेंगे जो आपने बताया है और इसलिए हम आपकी क्षमा चाहते हैं फिर से आपके सबके सामने कि हमने हमारे अज्ञान से आपको ऐसे पूछ लिया कि रुद्रासुर की कथा में क्या सुनना और एक दो बार आपने उसी भी बहुत की है हम लोग भूल जाते हैं यहाँ आते तो बहुत है कि ये मंदिर के बड़े आर्किटेक्ट कहाँ हैं श्री रामाकृष्ण स्वामी ने महाराज ने इतना बड़ा मंदिर बनाया जिससे कारण हम यहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं और उससे भी बड़े आर्किटेक्ट शिला प्रभुपा जी है हम यहाँ मंदिर में आते हैं उनको कह भी नहीं सकते समझा भी नहीं सकते कन्विंस भी नहीं कर सकते यहाँ बाहर दरवाजे के बाहर जूते मत रखो या भगवान के सामने यू नो अभी स्तुति चल रही है आरती चल रही है शोर गुड़ मच बजाओ इतना हम नहीं समझा सकते और शीला प्रभुपाद ने जिनके माता पिता और उसके माता पिता तीन चार पीढ़ियों तक खाते पीते सब प्रकार अश्लील बातें करते ऐसे लोगों को भी श्री कृष्ण के चरण में भक्ति में लगा दिया तो हम लोगों को आप वारंबार उनकी याद दिलाते हम भूल जाते हैं यहाँ एक बार इनकी वारंबार आप याद कराए हम सुना भी था पढ़ा भी था भूल गए कि उन्होंने बड़ा पुस्तक लिखा फार्मेसी के लिए और बड़ा धन कमाने के लिए और फिर जल गया तो सब भूल गए भगवान के कृष्ण में लगे लग गए यहाँ आए थे तब वो 69 साल के थे <laughs> हम तो अभी 60 के आसपास हो गए मेरे बाबू जी के आए यहाँ और कोई अभी भी नहीं जो सिक्सटी नाइन के है फिर भी सिक्सटी नाइन साल के पर यहाँ आने पर भी उन्होंने इतना बड़ा काम करा हमारे लिए इसके आप बारम्बार हम सबको याद दिलाते हैं हम उसके लिए बड़े बड़े धन्यवाद हैं हम क्षमा चाह लिया माफी मांग लिया तो हम उसके बदले में संस्थाई होते के जाने हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम बारम्बार आपकी कथा सुनने के लिए प्रवृत्त रहे ऐसी सुविधा हो जाए कि हम आपसे आके आपकी कथा सुनते रहे और आपके आशीर्वाद रहते रहे और हरिद्वार तो हम बहुत साल से गए नहीं पच्चीस तीस साल हो जाएंगे मगर अगर आपकी कृपा हो तो आप जहाँ भी वहाँ कथा कर दे तो हम सब हम सब के लिए मांग रहे हैं हम सब आपकी कथा वहाँ भी सुन सके और दोबारा जब आप आए तब हमें ये जिस जो भी प्रार्थना है भागवत की वो सब प्रार्थना आपसे मुझसे सुनने मिले तो हम मरते तक भूल नहीं सके ऐसे हमारी प्रार्थना है सबके लिए I'll invite Her Grace Janaki Dasi. We will invite now our dear member Amrit Lal Kapta. कल मेरे महाराज जी से एक क्वेश्चन किया प्रश्न पूछा कि वृत्रासुर इतने डीमंस के लीडर थे तो अचानक एग्जाल्टेड कैसे बन गए क्या उन्होंने किसी को फॉलो किया था क्या उनका कोई गुरु था तो <clears throat> महाराज जी ने जवाब दिया ये गुरु गुरु की क्या बातें करते हो वो तो पहले से बहुत महान आदमी थे चलो मानो अगर गुरु हो भी गया तो उन्हें एक और उदाहरण दिया कि आपकी गाड़ी अगर खराब है तो बाहर से दो तीन आदमी उसको धक्का देते हैं तो गाड़ी चलती है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भी आपके साथ ही लोग जाएंगे आप उसने गत्ता लगा धक्का लगा दिया आप गाड़ी खुद चला तो ऐसे ही इनका कहने का मतलब था कि गुरु आपको एक गाइड कर सकते हैं वो सारी उम्र आपके साथ नहीं सकता वो कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है और फिर आपको उसको फॉलो करनी पड़ती है फिर उसके बाद ये भी महाराज जी ने कहा कि गार्ड कौन है गार्ड को किसने पढ़ाया है तो जवाब दिया कि गार्ड का कोई नहीं शुरू है ना कोई अंत है वो तो पढ़ाने वाले हैं उन्हें ब्रह्मा जी को भी पढ़ाया है तो उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक उत्तम डिवोटी की अगर एक मिनट भी संख्या संग हो जाए तो उससे गति हो जाती है उसे स्वर मिलता है जब उसके ऊपर चली जाती है तो हम लोग कितने कितने खुश नसीब हैं कि महाराज जी के सात दिन की एसोसिएशन हुई तो आप अंदाजा लगाइए कि सात दिन में आपको तो ज्यादा <laughs> मुझे साढ़े सात हुआ है इस होली ने सदा गोविंद महाराज की प्रभुपाद की तो उसके बाद तीन तीन बातें मैंने अभी कहनी है टाइम कम हो रहा है महाराज जी ने कहा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आदमी गिर जाता है क्वेश्चन बड़ा ऊंचा है कौन सी ऐसी बातें इससे पहले तो हमने यही सुना है और भगवत गीता में पढ़ा है काम क्रोध मोह लोभ अंकार लास्ट एंगर ग्रीट ये चीजें इंसान को नीचे कर देती हैं मगर जो महाराज जी ने कहा कि दो चीजें धन और पद वैसे अमेरिका में रह के ये चीजें बिल्कुल ही फिट होती हैं क्योंकि यहां पर धन भी मिल सकता है और अपुलेंस भी मिल जाती है और फिर उसके बाद भगवान की भक्ति में काम पहले तो शुरू शुरू भगवान मुझे दो कुछ भगवान में यहां काम करता हूं भगवान देते हैं और फिर पद भी मिलता है और धन भी मिलता है आप कोई ऐसे भी उदाहरण हैं जिन लोगों के पास धन और पद होके और फिर वो गिर गए ठीक है ना जब वो गिर गए तो महाराज जी ने कहा कि अगर वो फिर भी भगवान की भक्ति करें तो उसे ऊपर उठ जाएंगे जो तो गिर गिरे नहीं बल्कि उनके लिए ये एक परिश्रम था उनका चेक कर रहे थे कि कैसे है फिर भी जब उन्होंने कहा कि भक्ति में अगर वो दिन लगाएं तो वो अपने धन और पद को हासिल कर सकते हैं अगर दुखी भी हो जाए तो महाराज जी ने क्या कहा कि जैसे इंद्र इंद्र लॉर्ड इंदिरा को चार आदमी ने अपना दुख बांटा था स्त्री भूमि जल और वृक्ष इसी तरह से उस आदमी का कोई ना कोई दोष आ जाएगा जिंदगी में जो उसका हाथ बांटेगा वैसे उस वक्त उसका उत्साह बढ़ेगा नहीं लेकिन फिर भी उसके दोस्त होंगे उसने अच्छे कर्म किए तो कोई ना कोई उनकी <clears throat> मदद करने के लिए आ जाएगा तो उसके बाद महाराज जी ने यह भी कहा कि भगवत कथा सुनना सुनाना और पढ़ना यही उत्तम है और सबसे अच्छी बात जो महाराज ने आखिर में कही शायद आपको याद है या नहीं जब महाराज जी ने कहा कि ये जो प्रसाद है ना प्रसाद यज्ञ का जीवन है तो मैं तो प्रसाद के लिए तो जाता हूं इसलिए प्रसाद की जय berada di rumah Rizki.